और इब्राहिम ने कहा तुमने सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी की बाहमी दोस्ती के बिना पर अल्लाह को छोड़कर बुतों को मबूद बना लिया है फिर तुम क़यामत के दिन एक दूसरे का कुफ्र करोगे और एक दूसरे पर लानत करोगे और तुम्हारा ठिकाना दोजख होगा और तुम्हारा कोई मददगार न होगा